शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए सोता शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए बैठी रह भाई गौ माता के लात लगाना ना चाहिए बैठी रह अपन गौ माता के लात लगाना ना ना नाचैया नदी कुआता लाल बावड़ी कूद नाना नाचिए सोता सिर जंगल का राजा उसे जगाना नाच घर आदर भाव नहीं पण भूल के जाना ना चाहिए भूल के जाना ना चाहिए रे भाई भूल के जाना ना चाहिए जिस घर आदर भाव नहीं था भूल घात चलाना ना चाहिए बेविश्वास किसी पर भाइयो घात चलाना ना चाहिए जा दिन बोलो भरत पमार धूणा को रस तरैया कर फचो महलन मा भरत पल के हुए गाड़ी मोर रख सुन ले बाबा जी मेरा जवाब मैंने रे मारो रे जिंदो थम करो मारा बाबा थम करो ये सुन ले चरपट चेला ज्वा निर्गापल्याज्य ढोणा मायत तो वाराचेला मायत तो जे चारपटने तार मेरे गाय का पकड़िया चारों हायत तो ताबूत लगाई गोरखनाथ न और गोरखनाथ नैवे मेरे गाने चायर तड़फाया हाथ पाया पर कमाया रे चौथर पावा बाके पर कमतिय रे हो रे मर गए चरण नवायो याट से हा mirga mire and me. Ой, Twoje गोर के चल दिया गोर बाबू जी चल दिया जी रानी को भाई कुट में पिरवार रानी को ले जा रे मोर गट दी

जाए दिन बोलो गोरखनाथ मेरे से चिपिर पैदा नाई मारा राजा है नाई तेरे से पिंग लाए तो कर दो पहुंच जाता है रानी के पास और राजा भर्तरी बाबा गोरखनाथ का धोना की रास्ता ले लेता है तो बाबा गोरखनाथ का धोना पे जाकर के राजा भर्तरी पहुंचा झाड़ धोना पे बाबा गोरखनाथ ने पलक होगाड़ी बाबा गोरखनाथ खेबड़े करे रे राजा ऐसे से दूर भाई तेने मेरा चेला मार लिया बोले बाबा जी मैंने मारे और तू जिंदो कर मैं तेरी अजमत देखूंगा इस मन का बीच में चरपट चेला सु बाबू जी खेबले वो बेटा यह मृग को घीस कर मेरा धोना पे लिया तो चरपट चेला ने जाकर के मृगा का चारों हाथ पांव पकड़ घीस लिया और का धोना पे गिर दिया के बाबा जी ये मृगोल है राजा वर्तनी धोना पे खड़ा गोरखनाथ जी ने उठा भगुतीर मृगा के लगाई तो मृगो अबड़ा सबड़ा उसास लेबा लग राजा वर्तन देखो एक ही भगूत लगाई जान मेरे को सास लेबा लगी दूसरी भभूत लगाई मिर्गा ने चारों तड़फाया हाथ पांव भाई तीजी भभूति गोरखनाथ लगाता मिर्गा बैठा कर दिया धूणा के मां तो चारों मेर बाबा जी का धोना के मिर्गो परकम्मा तो सात परकम्मा दे करके और बाबा गोरखनाथ का चरण में शीश नवा दियो मिर्गा को और बाबा गोरखनाथ में हाथ धर दियो जा बेटा मैंने हाथ धर दियो जाओ जंगल चरो और मंगल करो जा तेरी रूपा दे मिर्गी सत्तरी डार में जा मिल तो रूपा दे सत्तर मिर्गी खड़ी खड़ी कोरोडा रही और धन धन बाबा गोरखनाथ बिछोड़ो साजन हमको आज तेने दियो मिलाए ना जो हम सारी डार में सो बिछट के हो जो तेने मिला दी तो जाकर के वहां हड़कारा और रानी तो कहता है रानी साहब राजा वर्दी अपना काम आ लिया रानी ने वो पेट देखा तो पेट देखा तो लहर लहर लहरा गया रानी पिंगला ने पीठ फेरी और हल्का ने पेट उखाड़ा राजा भत्री काम आ लिया रानी साहब तो पत्ता सारा कुमला गया है कारा रानी पिंगला प्राण तल वहां बाबा गोरखनाथ के राजा भर्तरी के बाबा गोरखनाथ तो घरे महाराज मोहित तो चेलो कर ले मेरे दिल में चेला होगा कि आगे इतना में हलकारा और राजा वर्तरिका ने धोना पर जा पहुंचता है महाराज आपकी पिंगला जो तो खत्म होली और राजा वर्ती ने खा तो चेलो हो गए घेरे और के हाय पिंगला हाय पिंगला बाबा गोरखनाथ ने कि राजा भर्ती नहीं बचेगा और ये मरेगा सो तो बाबा गोरखनाथ भी पीछा से ले चीपी को चल दिया तो वहां भाई बेटा अपना कुटुंब परिवार रानी को तो मरगटन में ले गया रानी की चिता चिना ली और हों चिता धैकरी भरतरी जाकर के पहुंचा तो हाय पिंगला हाय पिंगला चिता के चारों मेर पर कम्मा रानी की बाबा गोरखनाथ जब थोड़े दूर रहे जब बच्चे हाथ में चीपी छोड़ दी चीपी फूट गई हाय चीपी हाय चीपी राजा भरतरी ने की मोटा की रोता है तेजी चीपी तो मैं चार पांच बनवा दू पर मेरी सी रानी मोको सत की पिंगला पैदा नहीं अरे राजन तेरी सी पिंगला मैं अब खड़ी कर दू पर मेरी सी चीपी पैदा नहीं मैं चा सर राजा भरती ने मरगटन में आंख में की तो तीन से पिंगला खड़ी एक लार में कर दी एक रंग रोगन की पिछान ले राजा कौन सी पिंगला अब राजा भरती सबन माई देखे तो वही एक रंग रोगन की महाराज अज्ञा हो जा सभी अरे नालाक मैं चाह फिर मेची तो वही एक पिंगला कह देख है तेरी कह मेरी चीज पैदा कर अब राजा भर्तरी ने देश का मिस्त्री कारीगर भेड़ा कर लिया पर वो सी चीपी नहीं बनी फूटी चीपी बांध कर पल्ला में बाबा गोरखनाथ ने ले राजा भर्तरी इस कुआ में से जल भर लिया अब राजा भर्तरी खे रही फूटी चीपी हम पानी आए कैसे जार कुआ में पास दोब की दिनी चीप छिक्कू तार भरे आई वर्तनी ने की है जो कुछ जोग में है से राजा वर्तनी तब और सब कुछ छोड़ता अब कहता है बाबा जी मोको तो चेलो कर ले तो कैसे राजा राजावर्तनी फिर बाबा गोरखनाथ का नाता है फिर बाबा गोरखनाथ फिर राजा भरतरे के और धोना पर विवाद होता है ये तो कहे चेलो कर ले मैं नहीं कहता नहीं करूँगा Mm-hmm. <coughs> से चल भरत पवा सुख सदैवा को नाए कठन लड़ाई राजा जोग की मारा मालिक जोग की जी असल फकीरी खांडा की धार उलट चल जा रहा राय लेके पिंगड़ाई चरे पट चला ज्वा राजा को रे Mataye. I walk. Raja बेटा तो वे जोग ना सदे को बेटा जोग तो असल फकीरी खांडा की धार है ना वो रानी पींग लाए तेरी जो जो तलब तलब के मर जाएगी राजा भरती ने की अग मृग सर्जीवन कर दी और तेरी रानी हो ओजुया ने सर्जीवन कर दी तो है जो कुछ जोग में है ना बाबा जी मेरे लेके रानी मरे चाहे कुछ भी हो पर मैं तो तेरे चेलो हूँ तो बोले बेटा चेलो हो गो बोले बाबा जी चेलो होंगे तो बोले रानी कने जाना पड़ेगा रानी से माता खेनी पड़ेगी और वहां का हाथ में बिच्छा लानी पड़ेगी तो मैं तुमको चेलो कर लूंगा चिरपट चेला जो तो है बोले वो बेटा अपना भगवान माना लिया राजा बर्तरी को दे तो राजा भर्तरी राजपणा का ये बस्तर है जिनको तो खोल कर मेरा धोना भी धर दे तो राजपणा का जो कपड़ा है जो तो उतार के राजा बर्तरी ने धर दिया और जोगी पुना का वो कपड़ा है जो राजा भर्ती ने फेर लिया ले बेटा ये झोड़ी ले हाथ में और जा रानी का महल को माता खेर बिच्छर लेकर मेरे को ना राजा भर्ती बड़ जोगी रानी का महल को चलती तो जाकर के रानी के अलख जगाया रानी पिंगला ने राजा भर्त्री की आवाज पहचानी तो राजा भर्त्री की आवाज लगे रानी राजा भर्त्री रानी पिंगला ने देखा तक तो राजा भर्त्री जोगी बन ठाटा राजावत्री माता माता कहते हैं रानी तो बच्चों तिवाड़ो खा गई जुलम की बात होगी राजा ने तो कोई बात नहीं पूछी और यानी तो माता आर क्यों खाई घड़ी तो मैं रानी पिंगला को सो दिया है रानी पिंगला खबरेगी राजा वर्तनी तेरी जीप गड़ेगी तू कोडी होएगो मुख पर दूंगी तो शराब आज मोसु माता तेने क्यों खही रहे मोसुगनी का साहिबा तेने पूछी ना मोसु मंथन की बात महाराज पहले मोसु कोई बात पूछता है कि मैं जोग लू तो मैं कचून कचू तुमको कचून कचू रास्त तो बता दी और तुमने तो आज तरुण लंबर मोसु माता खेदी रानी राजपणा की लागी मेरी स्त्री जोगपणा की भोड़ी माय मुक्का पड़ता मोतू अब तू हटा दे वो नाता तेरे मेरे रहा है ना ना ये पर्दा है ना इसको हटा दे मैं बेटा हूं तू माता है रानी के जुलम राजा भरतरे कोई ने कहा ऐसी चीज दे दी जो ये माता है माता खाई ना मैं तो बिच्छक खात रहा हूं तेरा हाथ की बिच्छा दे तो दे दे और नहीं मैं तो वापस बाबा गोरखनाथ खन फिर जाऊंगा अब रानी अपना मन में विचार करे राजा भरतरी को तो ऐसे कोई पक्को ज्ञान या को तो लग गयो ये राजा भरतरी नहीं डटे अब राजा भरतरी के ये लग गया या बाबा जी ने तेने मेरे हाथ तो मारो और तेरा आगे सरजीवन करो और तेरी रानी पींग लाई तो ईया ने खड़ी कर दी तो जो है जो कुछ जोग में है राजपणा में कुछ नहीं अब राजावर्ती कैसे महलन से एक रानी और राजावर्ती तो कहती है महाराज एकाध दो खजाना से कछु खर्च को लाल वाल ले जाओ तो कैसे राजा भर्तरी खेव है सुन मेरी जोड़ी का भरता

कपले क्या का टूटा चारों साल चूड़ो रे मोड़ो रे हाथ दांत को मारा मालिक दांत कोई सुपना में खेला जाव झूठो रे सपना रे मजल रात को मारी माता रात गायबी झूठे तेरी सपना के बात छाती पे पड़ गया रे दोनों चांदनी महाराज मालिक चांदनी बिन तो पिया कैसी तेरी नायर रे सिंगार मायर करे चालो मारा कुर अब पण छोड़ मारे माता मत मोय राजत हरे भरा रानी नयार जो कि रे राजा ले लेने और मालिक ले लेने राजा चलो